की तरफ से उस पर मुख्तलिफ किस्म के हालात आते हैं कभी बीमारी के हालात कभी माशी एतबार से परेशानियां कभी दुश्मन की तरफ से परेशानी और कभी किसी और एतबार से इंसान परेशान होता है मुसीबतों में घिरा हुआ होता है जब तक इंसान के साथ में उसकी सांस है तब तक उसके साथ में हालात मसाइल और आजमाइशें और परेशानियां हैं चाहे इंसान माली एतबार से कितना ही ज्यादा अमीर हो जाए या इसी एतबार से अहदे के एतबार से सियासी एतबार से या किसी भी एतबार से इंसान ऊंचाई को पा ले वो मसाइल से अपने आप को ऊंचा नहीं कर सकता है वो कभी अपने आप को ऐसी जिंदगी नहीं दे सकता है जो परेशानियों आजमाइशों और मुसीबतों से बची हुई और उससे पाक जिंदगी हो यहां तक कि अगर आप अंबिया की भी जिंदगी देखें जो इंसानियत के अतबार से बेहतरीन औसाफ वाले इंसान थे अल्लाह ताला के मुकर्रब और मुंतखब बंदे थे अगर आप इनकी भी ज़िंदगी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इनकी ज़िंदगी में भी मसाइल और परेशानियां थी बल्कि अगर आप ज़्यादा गौर से मुशाह करें इसका मुताल करें तो आपको दिखाई देगा कि अल्लाह के रसूलों पर मसाइल ज़्यादा आते हैं कि जो बंदा अल्लाह ताला का जितना मुकर्रब होता है और जिसमें दीनी पुख्तगी जितनी ज्यादा होती है अल्लाह की तरफ से मसाइल उस पर ज्यादा आते हैं इंसान की मिसाल एक पेड़ की तरह है उस पर सर्दी का मौसम आएगा गर्मी का मौसम आएगा धूप आएगी और उस पर बारिश के हालात आएंगे आंधियां आएंगी तूफान आएगा पेड़ की खूबी यह है कि वो इन तमाम मौसमों में अपने आप को जमीन पर कायम रखे वो तूफान के अंदर हवा उसको उखाड़ न दे सर्दी गर्मी में वो ठिठर के या सूख के खत्म न हो जाए वो मुरझा न जाए पेड़ की खूबी इसमें है कि वो इन मौसमों के आने के बावजूद जो उसके वजूद को खतरे में डालने वाले हैं इन सारे मौसमों में इन सारे सीजन्स में वो अपने आप को जमीन पर कायम रखे अपने वजूद को बाकी रखे पेड़ की मजबूती पेड़ की हाइट में नहीं होती है पेड़ की मजबूती पेड़ की जड़ों में होती है जिस पेड़ की जड़ें जितनी ज्यादा गहराई तक होती हैं वो आने वाले तूफान में उतना ज्यादा मजबूती से कायम रहता है इसी तरह से एक इंसान मुसीबतों में परेशानियों में मसाइल में वही आदमी मजबूती से कायम रहता है जिसकी जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई के साथ जमी हुई हों दूसरे अल्फाज में जिस इंसान की ईमान की कुवत और सोच की गहराई या ऊंचाई भी आप कह सकते हैं जितनी आला सतह पर वो सोच के एतबार से जीने वाला होता है ईमान के एतबार से होता है अल्लाह पर तवक्ल और भरोसे के एतबार से होता है जितने बाउसूल उसके अफकार होते हैं जितनी मजबूत उसकी सोच की गहराई होती है उस एतबार से वो मसाइल में जमता है इस्लाम हमको ये नहीं सिखाता है कि हम मनफी एतबार से जीने वाले बने इस्लाम हमको ये सिखाता है कि इन मसाइल में घिरने के बावजूद इसलिए कि मसाइल से फरार किसी को भी नहीं है इन मसाइल में घिरने के बावजूद हम टूटने की बजाय और आगे बढ़ने वाले बने इसको पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं इसको आला सोच कहते हैं इसको मुस्बत फिक्र कहते हैं इस्लाम चाहे आप इस्लाम की तालीमत देखें या इस्लाम की तालीमत पेश करने वाली शख्सियत को देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूरी इस्लाम की तारीफ पढ़ जाएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें आपको दिखाई देगा कि इतनी परेशानियां इतने मसाइल इतनी रुकावटें इतनी आजमाइशें आने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे नहीं आगे बढ़े हैं और एक दावत एक तहरीक एक इनकलाब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था आपने अपनी जिंदगी में उसको तकमील दी मसाइल नहीं आए मसाइल आप मामूली साइकिल चलाएं आपको रास्ते में रुकावटें आती हैं आप साइकिल भी चलाएंगे आपको रुकावटें आएंगी रुकावटों को आप खत्म नहीं कर सकते लेकिन रुकावटों की वजह से आप अपने सफर को भी खत्म नहीं कर सकते एक आदमी को रुकावट आ गई बीच में बैल आ गया अरे चलो घर को ऐसा कर सकते हैं यह आदमी कम हिम्मत है यह आदमी पागल है मजनून है दुनिया का उसूल यह है जिंदगी का उसूल यह है कि एक इंसान जब अपना सफर शुरू करता है चाहे वो सफर दुनियावी हो चाहे वो सफर दीनी हो उसको रुकावटें आएंगी कभी रुकावटें अंदर से आएंगी बीमारी परेशानियां मसाइल घरेलू मसाइल माशी मसाइल कभी बाहर से मसाइल आएंगे सियासी मसायल दुश्मनी के मसायल रिश्तेदारों के मसायल दोस्तों के मसायल दुश्मनों के मसाइल लेकिन इनके बावजूद एक आदमी को आगे बढ़ना और जो उसने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है उस मकसद को पाना अपनी मंजिल तक पहुंचना जो उसके सामने है ऐसा आदमी कामयाब होता है एक आदमी जॉब पे है परेशानी आगे जॉब छोड़ दिया एक आदमी एजुकेशन की फील्ड में मसाइल आया छोड़ दिया एक आदमी बीमार है बीमारी में थक गया मौत की दुआ करने लग गया एक बच्ची घर में बैठी है रिश्ता नहीं हो रहा है खुदकुशी कर ली एक आदमी कोई उसका दुश्मन है परेशान कर रहा है कहीं भाग के चला गया या उसको मार डाला किसी के लिए कुछ मसायल है किसी के लिए कुछ मसायल है जिंदगी में मसायल से आप भाग नहीं सकते और मसायल से भागना बहादुरी भी नहीं है एक आदमी उन मसायल के साथ वो मामला करे जो उन मसाइल के हल करने वाला हो और एक इंसान का सफर बाकी रहे जारी रहे ये इंसानियत का कमाल है इस्लाम हमको यही सिखाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत शुरू की मक्का में मसाइल नहीं आए बहुत मसाइल आए हम होते तो भाग जाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और आपके साथ वाले साहबा को भी कितना सताया जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं आपकी पीठ पर ओझड़ी डाली जा रही ऊंट की बिला रबी अल्लाह तु मक्का की घाटियों में वादियों में उनको बच्चों के हवाले करके उनकी गली में गले में रस्सी डाल के उनको घसीटा जा रहा है अम्मार इबन यासिर रजी अल्लाह तला उनके वालिद उनकी वालिदा सुमैया रदी अल्लाह तला इस्लाम कबूल करने की वजह से उनको सताया जा रहा है सजा दी जा रही मामूली सजा नहीं जख्म पहुंचाए जा रहे हैं लेकिन आप देखिए पीछे नहीं हटते थे ये अपनी बात पर जमते थे वो क्या ताकत थी वो क्या पावर था वो ईमान था जब एक इंसान सबसे बड़ी सच्चाई को पा लेता है तो मसाइल उसके सामने घटिया और हकीक दिखाई देने लगते हैं एक इंसान अपने आप को अपनी सोच को इतना पावरफुल बना ले कि आने वाले मसाइल उसको इतना मुतासर न करें कि वह अपने मकसद ही को छोड़ दें ये पावर ये पावर जरूरी है ऐसा नहीं होगा कि तूफान में पेड़ हिलेगा भी नहीं एकदम स्ट्रिक्ट ठहराएगा ऐसा नहीं होगा थोड़ा हिलता है पेड़ भी इसीलिए हदीस में आप देखें और कुरान में आप देखें अल्लाह ताला ने ईमान वालों की मिसाल पेड़ की बयान की है पेड़ की मिसाल ईमान वालों की है हदीस में भी ईमान वालों की मिसाल पेड़ की तरह के हालात उसको दाया बाया करते रहते हैं लेकिन उखेड़ते नहीं उसको उखाड़ नहीं देते जमीन से ये मुनाफिक होता है जो जमीन से उखड़ जाता है क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत नहीं होती अगर वक्त होता तो मैं सारी हदी से आपके सामने जिक्र करता लेकिन हमारा वो मौजूद नहीं है तो खुलास कलाम ये कि आप और मैं और हम सब सारी इंसानियत चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो अल्लाह ने एक ऐसी दुनिया उसकी उसकी तकदीर में लिखी है जो मसायल से भरी हुई है इस दुनिया में हमको जीना है हम चांद पे जाके या किसी और सैारे पे जाके नहीं जी सकते हैं हम एकदम खुशगवार बाग वाली जिंदगी नहीं पा सकते हैं इसी जिंदगी में हमको जीना है इसी में अपनी जिंदगी को दीनदार बनाना है इसी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है अपने माशी मसाइल अपने तमाम मसायल घरेलू मसायल रिश्तेदारी के मसाइल सारे मसायल इन मसाइल के अंदर हमको जीना है और इसमें से अच्छा इंसान बन के बाहर निकलना है या अयतुहनफसुल मुतमा इला रब्बी की रादियत मरदिया कि ऐसा आदमी जी के निकले यहां से कि जब मौत का वक्त उसका आए तो फरिश्ते अल्लाह की तरफ से उसके लिए ऐलान हो या अयतुहनफसुल मुतमा ए इतमान वाली रूह इर्जी इला रब की रादियत मरदिया तो चल वापस अपने रब के पास अपने रब की तरफ लौट कैसे रादियतन तो खुद भी अल्लाह से राजी मरदिया और अल्लाह भी तुझसे राजी खुली सी इबादी वद खुली जन्नती मेरे बंदों में तू शामिल हो जा नेक बंदों में और मेरी जन्नत में तू दाखिल हो जा तो एक इंसान को दुनिया में अपने आप को बाकी रखने के लिए दीन पर जमाने के लिए अपने मकासद चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो उनके हसूल के लिए आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही अहम तरीन चीज दरकार है और वो चीज क्या है वो चीज है हिम्मत वो चीज है उम्मीद वो चीज है तवक्ल चाहे आप इनको तीन अलग कहें एक कहें कि एक इंसान वो क्या चीज है जो इंसान को दुनिया में मसाइल के बावजूद ठोस बाकी रखती है वो उसकी सोच की मजबूती है और इस्लाम हमको ये देता है इस्लाम ये नहीं कि मस्जिद के कोने में जाके सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह को बस इतना ही या वजू खाने में मिसवाक करो बस इतना ही नहीं इस्लाम आपको जिंदगी के हर मैदान में रहबरी देता है चाहे आपका मेडिकल लाइफ हो चाहे आपकी घरेलू जिंदगी हो सियासी जिंदगी हो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो जॉब की आपकी जिंदगी हो चाहे आपकी सोशल लाइफ हो हर एतबार से इस्लाम आपको रहबरी देता है और इंसान का इतना बड़ा मसला कि वो मसले के अंदर कैसे जिए इस्लाम इस बारे में रहबरी नहीं देगा हो नहीं सकता इसमें वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने मकसद को हासिल करने के लिए कैसा आगे बढ़े इस्लाम इस बारे में गाइड नहीं करे ऐसा हो ही नहीं सकता है ये तो इतना बड़ा मसला है और ये एक ऐसा मसला है और ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी किताबें लोगों ने लिखी हैं लेकिन इस्लाम के जो उसूल आदाब हैं आप देखेंगे ये हमारे लिए बेहतरीन चीज़ है क्योंकि हमको बाहर जाके कोई गोल्डन बुक लाने की जरूरत नहीं है हमारे लिए कुरान और सुन्नत काफी रहबरी है आइए देखते हैं इस्लाम मुस्बत फिक्र के एतबार से पॉजिटिव थिंकिंग के एतबार से कि एक इंसान अपनी सोच को कैसा अच्छा रखे ऊंचा रखे वो हालात से मुतासर न होते हुए आगे बढ़ता रहे इस बारे में इस्लाम हमको क्या रहबरी देता है नंबर एक एक इंसान को जिंदगी में मसाइल में हालात में बाकी रहने में एक बहुत ही अहम चीज उसके लिए सपोर्ट बनती है वो अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना है नंबर एक क्या है अल्लाह से अच्छा गुमान रखना है कोई भी आदमी ऐसा आज तक पैदा नहीं हुआ जो अकेला अपने सारे मसाइल को हल कर सकता हर आदमी मेरिकल्स के लिए वेट करता है कुछ होते हैं जो जंतर मंतर पे जीते हैं कुछ होते हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी पे जीते हैं और ईमान वाला वो होता है जो अपनी ताकत के बकदर इसबाब इख्तियार करने के बाद ये जानता है कि मेरी खेती में फसल उगेगी अल्लाह की बारिश से अल्लाह की तरफ से जब तक के मदद नहीं होगी मेरे मसाइल हल नहीं होंगे लेकिन फिर अगर एक आदमी सोचे अल्लाह करेगा कि नहीं क्या मालूम तो ये जो ढीलापन है ये अगले कदम के लिए रुकावट बन जाता है लेकिन एक आदमी का एतमाद हो नहीं मैंने जब अल्लाह से मांगा अल्लाह देगा हमारा अल्लाह अच्छा है हमारा अल्लाह बहुत अच्छा है ऐसा अगर उसके दिल में यकीन हो कि नहीं जब अल्लाह पे मैं भरोसा करूंगा तो अल्लाह जरूर मेरी मदद करेगा ये जो अंदर का पावर होता है ये अगला कदम नहीं अगली छलांग में मदद देता है इसलिए कि इंसानी तारीख में अगर आप देखें तो जो लोग होता के नहीं होता कि नहीं डरते रहे वो कभी कूदे नहीं वो बिल्डिंग के साथ दबके मर गए लेकिन जिन लोगों ने उम्मीद रखी कि नहीं चलो कूदेंगे बच जाएंगे इंशाला बच गए लोग लेकिन जो लोग डरते रहे कूदा कभी हड्डी टूटी तो कभी कुछ हुआ तो पूरे मलबे में दब के मर गए वो लोग तो जो इंसान ईमान के साथ छलांग लगाता है जो इंसान ऐसा भी नहीं कि किधर भी छलांग लगा दे आदमी ऐसी सिचुएशन में लगाए जहां छलांग जरूरी हो वरना आदमी बिल्डिंग पे से कूदा अल्लाह है ना अपना कूदो तो सीधा दवाखाने में आंख खुलेगी उसकी ऐसा नहीं कि एक आदमी अल्लाह पर यकीन रखे अल्लाह से अच्छा गुमान रखे अल्लाह के बारे में बदगुमानी वो न करे कि ठीक है मैंने अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक किया है लेकिन शायद अल्लाह नहीं भी करेगा ये भी भरोसा इंसान अल्लाह को पसंद नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हदीस में जिसको इमाम तबरानी ने औसत में और अबू नईम अल असफहानी ने अपनी किताब हिलियतुलौलिया में उसको जिक्र किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन अल्लाह तकूल खुद अल्लाह ताला फरमाता है यह हदीस कुदसी है अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में नहीं है लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बात हमसे बयान की है इसको हदीस कुदसी कहते हैं इन अल्लाह तकूल अन अबदी बी मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं मेरा बंदा जैसा गुमान मेरे साथ रखता है मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं इन खैरन फैर व इन शर्रन फशर अगर वो मेरे बारे में अच्छा गुमान रखता है तो ठीक उसके लिए खैर है अगर वो मेरे बारे में शर का गुमान रखता है तो ठीक है शर है अगर वो मेरे बारे में गुमान रखता है अल्लाह मदद करेगा मैं करूंगा खैर का उसका गुमान है अल्लाह का फैसला कह का होगा खैर का होगा लेकिन अगर अल्लाह के बारे में बदगुमानी रखता है नहीं मदद करेगा अल्लाह ताला मसायल को हल नहीं करेगा शिफा नहीं देगा ठीक है नहीं करेगा तुम्हारा जैसा गुमान है वैसा अल्लाह का मामला है तो इस्लाम की तालीम हमको यह है कि एक इंसान उसकी जिंदगी का सेंट्रल एक्सिस जो उसकी रीढ़ की हड्डी है वो ये कि उसका गुमान अल्लाह के साथ कैसा है इसलिए कि अकेला इंसान अपने मसाइल को हल नहीं कर सकता है उसको एक खारजी सपोर्ट की जरूरत है और जितना एक्सटर्नल सपोर्ट उसका पावरफुल होता है उसकी एक्टिविटी उसकी उतनी पावरफुल होती है एक इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन है नहीं है आप बताइए एक डॉक्टर है उसको ऑपरेशन करना है और एक पेशेंट है उसको ऑपरेशन करवाना है अब अगर पेशेंट बोले अल्लाह ने जिंदगी लिखी हमारा अल्लाह पे भरोसा है अल्लाह शिफा देने वाला है सब बोल रहे अरे अल्लाह है जाओ वो आदमी ठीक से जाएगा डॉक्टर भी है अपने को सब सीखे हुए हैं सब सीखे हुए हैं और अल्लाह है अल्लाह ताला अल्लाह की मदद से हम ऑपरेशन करेंगे तो वो डॉक्टर भी सही काम करेगा नहीं तो पेट खोलने के बाद सोचेगा क्या करना है खाद कब कपाएंगे उसकी एक इंसान जो है अपने आप पे भरोसा रखे वो मजबूत नहीं हो सकता इसलिए कि वो खुद जानता है कितना भी अपने आप को धोखा दे दे वो जानता है मैं कमजोर हूं मेरी लिमिट्स हैं मैं मेरिकल्स नहीं कर सकता हूं मैं अजीब वगैरह चीज नहीं कर सकता मैं इंसान के दायरे में चल सकता हूं लेकिन अल्लाह के लिए इंसान का दायरा नहीं है अल्लाह के लिए एक ऊंची ताकत है अल्लाह ताला कितने पेशेंट आपने देखे होंगे डॉक्टर बोला ले जाओ इनको घर को और डॉक्टर को लेके गए कब्रस्तान को और वो घर पे जिंदा है कितने पेशेंट है, है कि नहीं है कई लोगों ने डॉक्टरों की जनाजे की नमाज पढ़ी है और डॉक्टर बोल चुके थे इनको ले जाओ घर को अभी ऐसे कई लोग हैं तो ऐसा होता है ऐसा होता है ये क्या है अल्लाह की तरफ से फैसले होते हैं इंसानी हद में डॉक्टर साहब ने गलत नहीं बोले थे उनको तो जो दिख रहा हो बोलेंगे लेकिन उनको वो नहीं दिख रहा कि अल्लाह का फैसला क्या है अल्लाह का फैसला भी तो कुछ चीज है तो एक इंसान अगर अल्लाह पे भरोसा करे तो वो देख सकता है जैसे मूसा सलाम का मामला है मूसा सलाम दरिया के किनारे खड़े पीछे फिरौन साहब आ रहे हैं और मूसा सलाम के साथ कौम है कौम कह रही है ए मूसा इन्ना मुद्रा खोल पकड़े गए फिरौन ने हमको कैच कर लिया अभी गए हम काम से अभी लेकिन मूसा सलाम का गुमान अल्लाह से अच्छा है इसलिए मूसा सलाम के कलिमात उस सिचुएशन में क्या निकल रहे हैं इन माया रबी सयादीन इन माया रबी सयादीन मेरा रब मेरे साथ है मुझको रास्ता बताएगा गुमान अल्लाह से अच्छा है अल्लाह पे भरोसा है अगर नहीं तो और यहां ना पकड़े गए अब क्या करने का चिल्लाओ जोर जोर से क्या कर सकते हैं कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते लेकिन ऐसी सिचुएशन में आदमी पैनिक नहीं होता है टूटता नहीं है जिस इंसान की हिम्मत टूटती है वो टूट जाता है जिस इंसान की हिम्मत नहीं टूटती है वो इन हालात में भी अगले कदम से निकल जाता है बल्कि उसके साथ उसकी हिम्मत पर कईयों की हिम्मत टिकी होती है हम क्यों ऐसा आदमी नहीं बने हम ऐसा आदमी बने कि एक इंसान उसकी हिम्मत नहीं टूटे इंसान की हिम्मत कब नहीं टूटती है वो अपना भरोसा ऐसी जात पर रखे जिसका सहारा कभी नहीं टूटता है वो तवक्ल मूत ए नबी आप ऐसी जात पर अपना भरोसा रखें जो जिंदा है जिसको कभी मौत नहीं आने वाली है कमिश्नर साहब बोले मैं हूं कमिश्नर साहब ही गए तो क्या करेगा भाई साहब बोले मैं हूं कॉरपोरेटर साहब बोले मैं हूं डॉक्टर साहब बोले मैं हूं बाप बोला मैं हूं ना पढ़ तो आगे बिजनेस कर तो आगे अपनी जायदाद है फुलाने उसको सहारा दिया वो मर सकता है खत्म हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन अल्लाह अल्लाह के लिए मौत नहीं है जिसका भरोसा अल्लाह पर है उसने ऐसी जात पर भरोसा रखा जो कभी फना होने वाली नहीं है जिसको मौत नहीं है जो गाफिल नहीं है जो वादा करने के बाद पीछे नहीं हटता है जिसके पास स्टॉक खत्म नहीं होता है बोले ठीक है भाई साहब आपको वादा तो किए थे लेकिन हमारे पास स्टॉक नहीं तो क्या करेंगे तो क्या करेंगे खुदकुशी करेंगे अब क्या करेंगे तो एक इंसान ऐसी जात से उम्मीद रखे जिसके पास सब कुछ है और जो भरोसा करने लायक है ये इंसान की शख्सियत को पुख्तगी देती है एक इंसान की कुत उसके भरोसे के बकद्र होती है इसको आप लिख के रखो एक इंसान की कुत कैसी होती है जिस पर उसको भरोसा है उस भरोसे के प्रोपोर्शनट होती है वो जैसा भरोसा वैसी उसकी वैसे उसका पावर जैसी भरोसा टूट गया पावर टूट जाता आदमी का और जिस पर भरोसा किया है वो अगर बहुत पावरफुल है बल्कि सबसे पावरफुल है बल्कि बाकी सारे पावर को खत्म करने वाला है और देने वाला है अगर उस पर भरोसा इंसान का हो तो इंसान की जबान से क्या कलिमात निकलते हैं ए अबू बकर उन दो के बारे में तेरा क्या कहना है जिनका तीसरा अल्लाह है है कि नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर में है मुशरकिन दहाने पर पहुंच गए हैं और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह के रसूल देखो लोग आ गए गार तक पहुंच गए अगर ये झुक के देख लेंगे तो हम दिखाई देंगे लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि क्या फरमाया ए अबू बकर उन दो के बारे में तेरा क्या कहना है जिनका तीसरा अल्लाह है अल्लाह ने वादा किया है कि अल्लाह मदद करेगा तो अल्लाह अपने वादे से पीछे नहीं हटेगा अल्लाह पर भरोसा रखना अल्लाह से अच्छा गुमान करना अल्लाह पर शक नहीं करना अल्लाह पर शक नहीं करना इन नमलमिन अल्लवीन आमनु व रसूली तो मलम यरताब ईमान वाले तो वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आए और उसके बाद कभी शक में मुबतला ना हो शक नहीं करना अल्लाह पर अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखना ये बुनियादी चीज है अगर ये हमारी जिंदगी में आ जाए तो आप देखिए इंसान की हिम्मत बढ़ जाती है इंसान की हिम्मत बढ़ जाती है लेकिन जो इंसान अल्लाह पर भरोसे के एतबार से कमजोर हो उसकी हिम्मत कम हो जाती है इंसान को मजबूत करने वाली ऊंचा करने वाली चीज क्या है उसकी हिम्मत है और उसकी हिम्मत जिस पर हो भरोसा उसकी हिम्मत वैसी होती है ईमान एक इंसान को कवि करता है एक इंसान को डेयरिंग देता है आप देखिए फिरौन के साथ में जिन जादूगरों को पकड़ के लाए थे यहां वहां से मूसा सलाम के मुकाबले में फिरौन ने कहा चलो उन्होंने कहा हम लोग जीते तो फिर उन्होंने बोला तुमको मैं अपना खास स्पेशल बनाऊंगा सेक्रेटरी जो भी था तुमको अपना मुकर्रब बनाऊंगा और इनाम तो मिलेगा वो एक्स्ट्रा बोनस अब जादूगर मैदान में आए उन्होंने अपने असे और अपनी रस्सियां डाली मूसा सलाम ने अपना एक असा वन एंड ओनली डाल दिया उसने सबको निकल लिया तलकफ न सनाऊ सबको निकल लिया जब जादूगरों ने देखा कि ये अपना वाला मामला नहीं ये केस अलग है ये जादू का केस नहीं है ये जादू से थोड़ा ऊपर का ऊपर के लेवल का मामला है ये मुआवजा है ये इंसानी ताकत नहीं है ये शोबदाबाजी नहीं है ये हैंड्स की कोई ट्रिकरी नहीं है ये कुछ ऊंची चीज है क्योंकि जादूगर ही समझ सकता है कि ये जादू नहीं है जादूगर ही समझ सकता है ये जादू नहीं है इसलिए कि जादू वो खुद जानता है तो जब उन्होंने देखा कि ये ऊपर की चीज है फौरन सजदे में गिर गए और कहा कि आमन ना बेरब हारून व मूसा हम हारून और मूसा के रब पे ईमान ले आए हमने तौबा कर ली हम ईमान ले आए फिर उन्होंने जब देखा तो सटपटा गया फ्रस्ट्रेट हो गया एकदम पांव के नीचे से जमीन निकल गई उसकी यानी अपनी फौज ही उधर चली गई जो लड़ने वाली फौज है फौज ही दुश्मन के पास चली गई तो आप बताइए क्या हाल होगा उसने कहा मैं अच्छा मेरे से पूछे बगैर तुम ईमान ले आए यानी मेरी परमिशन के बगैर तुम कैसा ईमान ले आए ठीक है मैं तुम्हारे एक तरफ से हाथ और एक तरफ से पांव काट देता हूं तुमको मैं सूली चढ़ा देता हूं वो ऐसा ही किसी यानी कमजोर आदमी का उसकी धमकी ये नहीं थी ये फिरौन की धमकी थी जो प्रैक्टिकली इसको करने की ताकत रखता था लेकिन फिरौन की इस धमकी के मुकाबले में उस बादशाह की जल्लाद की और इतनी बड़ी फौज वाले की धमकी के मुकाबले में आप देखें जादूगरों के दिल में जब ईमान समा गया जब उन्होंने अल्लाह को पहचान लिया अल्लाह की कुदरत अल्लाह के रसूल की बात को देख लिया जब ईमान उनके दिल में रच बस गया अल्लाह की मारिफत उनको मिल गई उन थोड़े से लम्हात में ईमान जब उनके दिल की जमीन में जड़े पकड़ चुका तो उनकी पावर क्या है उन्होंने कहा इन्ना इला रबिना है कोई बात नहीं कोई बात नहीं ला बैरा का आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन आज की जबान में करें नो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं जो करने का करो बल्कि कुरान में सूर्य ताहा में उन्होंने कहा कि इन तक विहाद हयात दुनिया तो क्या कर सकता है जो कुछ कर सकता है दुनिया की जिंदगी में कर सकता है तो हमारी दुनिया खराब कर सकता है आखिरत में कहां से आया इतना पावर जो थोड़ी देर पहले फिर की खुशामद में लगे हुए थे हमको क्या मिलेगा वो फिरौन की धमकी के मुकाबले में खड़े होकर बोलने वाले बन गए क्या कर सकता तू चल तेरी क्या औकात है कुछ भी नहीं कर सकता बहुत किया तो दुनिया तक करेगा आखिरत में तेरा हाथ तो नहीं जा सकता है आखिरत में तो तू हमको कुछ नहीं कर सकता है लेकिन हमारा रब वो है जो दुनिया और आखिरत दोनों में हमको पकड़ सकता है तो हम तेरी पकड़ से डरे नहीं तो हम अल्लाह की तरफ रुजू कर ये पावर कहां से आता है ये पावर ईमान से आता है जब एक इंसान अल्लाह की कुदरत अल्लाह की ताकत अल्लाह की हमत अल्लाह ताला को जब पहचानता है तो उसकी जिंदगी में कुत पैदा हो जाती है वह हर चीज के खिलाफ खड़े होने के लिए ठहर जाता है उसके अंदर पावर आता है ये पावर जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है ये गाड़ी का पेट्रोल है ये गाड़ी का किसकी गाड़ी कितनी दूर तक जाएगी इस पर डिपेंड करती है उसकी गाड़ी का पेट्रोल उसमें कितना है ये कुत है इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं इन अल्लाह तकूल अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं इन वन खैरन फ़ैर व इन शर्रन फ़शर अगर उसका गुमान मेरे साथ अच्छा है तो मेरा मामला उसके साथ अच्छा होगा अगर उसका गुमान मेरे साथ शर का है मेरे फैसले भी शर के होंगे अल्लाह के साथ आदमी हमेशा खैर का अच्छा गुमान रखे अल्लाह पर आदमी भरोसा रखे इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग नंबर दो यह हदीस शेख अलबानी ने इसको सैल जाम सगीर में सही कहा है नंबर दो इस्लाम में मायूसी को बुरा कहा गया है एक आदमी बीमार है मायूस होगा आप कुछ नहीं होने वाला है किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है बच्ची है सोच रही कि आप क्या होने वाला आपकी तो गई जिंदगी कोई आदमी सियासी परेशानियों में मुब्तला है वो कहता तो कुछ भी नहीं हो सकता मायूसी मायूसी को इस्लाम में पसंद नहीं किया गया है मायूसी क्या है मायूसी यह है कि एक इंसान अल्लाह के बारे में ये गुमान रखे कि आप कुछ नहीं होने वाला है यानी आप कुछ नहीं हो सकता है क्या कुछ नहीं हो सकता है हो सकता है अल्लाह ताला इतनी कुदरत रखता है कि जहां सारे असबाब फेल हो जाएं वहां भी अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता इब्राहिम सलाम को औलाद नहीं औलाद दे सकता है बुढ़ापे में औलाद दे सकता है और नहीं देना चाहे तो जवानी में नहीं दे सकता है जवानी में नहीं देगी बुढ़ापे में जकरिया सलाम अयूब सलाम बीमार हैं अल्लाह ने बीमारी में मुब्तला किया अल्लाह बीमारी के बाद बगैर दवा की शिफा दे सकता है दवा किए कहीं से कोई डॉक्टर आके दवाई देता तो। बगैर दवा की शिफा मूसा सलाम सारे फिर कत्ल करते फिर रहा पूरे गांव में और उसके घर में पड़ रहे हैं कौन जिसके कत्ल के लिए सबको कत्ल कर रहा है कैसी अजीब बात है यानी आप सोचें कितना सॉलिड मामला है कि सारे गांव में बच्चों को कत्ल कर रहा है फिर किसके डर से मूसा सलाम के डर से लेकिन घर में कौन पल रहा है वही पल रहा है जिससे डर है अल्लाह ऐसा करके बता रहे हैं कि अल्लाह की कुदरत में बहुत अकलमंदी बताता है अच्छा प्रिकॉशन ठीक है तेरी प्रिकॉशन तेरे लिए हम तेरे घर में उसको पाल के बताएंगे अल्लाह ने मूसा सलाम को फिरौन के घर में पाल के बताया जिस जिसके वजूद की वजह से फिरौन डूबा है जिसकी दावत न मानने की वजह से और कुफर कुफर की दावत देने वाला फिरौन काला अन रब आला मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं ये दावत फिरौन की है मैं तुम्हारा रब हूं नहीं अना रब आला मैं तुम्हारा टॉप गॉड हूं मैं तुम्हारा रब आला हूं जो रबूबियत का दावा करता है और सबसे बड़ा रब हूं का दावा करता है उसके घर में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल हैं उसको अल्लाह ताला पाल रहा है जो उसकी रबूबियत का इनकार करके तोहहीद की दावत देने वाला है कैसे अल्लाह ताला जो चाहे करता अल्लाह मरियम को शोहर नहीं है औलाद है अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है ईसा सलाम कोई मदद करने वाला नहीं अल्लाह ने आसमान भी उठा लिया इधर उधर नहीं पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर किधर नहीं ऊपर अल्लाह चाहे तो उठा सकता है अल्लाह जो चाहे कर सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सब तय कर चुके हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना है सारे कबीले मिलकर सब एक साथ हमला करेंगे ताकि किसी एक का नाम ना आए किसी एक के ऊपर खून का मसला नहीं आए लेकिन उनके सामने से अल्लाह ले जा रहा कोई देख नहीं पा रहा है उनके सामने से अल्लाह ताला ले जा रहा है और कोई देख नहीं पा रहा है अल्लाह के नबी वसल्लम उतर के मिट्टी फेंक रहे हैं जंग में और वो सबकी आंखों में जाए एक मुठ थी था एक रमाई था वाला कि नल्लाह रमा ए नबी आपने मिट्टी नहीं डाली लोगों के आपने कंकरियां मिट्टी नहीं फेंकी ये तो अल्लाह है जिसने फेंकी थी सबके आंखों में चलेंगे पूरे मैदान में सारे मुशरकिन के आंखों में एक मुठ्ठी लेकिन अल्लाह जो चाहे कर सकता है एक असा समंदर में दरिया में रास्ता बना सकता अल्लाह के पास कुदरत है मायूस आदमी को नहीं होना चाहिए मायूसी आदमी को तोड़ देती है हिम्मत हिम्मत आदमी को बाकी रखती जब सब फेल हो गया है अल्लाह फेल नहीं हुआ मैं अल्लाह भी फेल नहीं हुआ है मैं फेल हुआ हूं सब कुछ फेल हुआ है अल्लाह फेल नहीं हुआ अभी अल्लाह ताला की कुदरत आज भी है क़यामत तक रहेगी हमेशा रहेगी कुल्लाउमिन हुआ फी शान हर दिन वो अपनी शान में है अल्लाह पहले भी वैसे ही था आज भी वैसा ही है हमेशा अल्लाह वैसे ही रहेगा जो कुदरत पिछले अंबिया के साथ में अल्लाह की जाहिर हुई आज भी जाहिर हो सकती है बशरते कि वैसे असबाब पैदा हो बंदा वैसा हो अल्लाह की मदद वैसी हो सकती है कमी हमारे अपने अंदर होती है अल्लाह की कुदरत में नहीं होती है जैसे इंसान के अवसाब हैं वैसे अल्लाह के फैसले होते हैं तो मायूसी इस्लाम में मना है चाहे आदमी कैसे भी हालात में चला जाए मायूस ना हो मायूस ना हो अल्लाह की जात से मायूसी कुफ्र है गुनाह है अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वला तई असू मिर्रौहिल्ला अल्लाह से मायूस ना हो वला तई असू मिर्रौहिल्ला अल्लाह की कुदरत से अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो इन कौमुल फिर अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस होते हैं जो कि काफिर हैं काफिर ही अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए दाई है मायूस हो जाए मायूस नहीं होना चाहिए बीमार है मायूस हो जाए मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए इसको सूर्य यूसुफ में आयत नंबर सतासी में अल्लाह ने बयान किया है इसी तरह से सूर्य अल हिज्र आयत नंबर छप्पन में अल्लाह ताला फरमाता है वमन यक न तो रहमत रबी अपने रब की रहमत से गुमराहों के सिवा और कौन मायूस होता है यानी अल्लाह की रहमत से मायूस होना क्या है गुमराही है और जो अल्लाह की रहमत से मायूस होता है वो गुमराह हो जाता है तो इसलिए एक इंसान को अल्लाह पर भरोसा अल्लाह से अच्छा गुमान अल्लाह से उम्मीद बाकी रखना चाहिए ये इस्लाम की तालीमत में से बहुत अहम तालीम है जिसको चाहे आप दुनियावी मैदान के अतबार से देखें दुनियावी तरक्की और कामयाबी के अतबार से देखें या दीनी दावती या जाति घरेलू जो भी है जिस मैदान में भी आप देखें ये आपके लिए जरूरी है ये हमारे लिए जरूरी है क्या अहमियत है अल्लाह पर भरोसे और मजबूती की इस्लाम हमको तालीम देता है कि एक आदमी का आजम पुख्ता होना चाहिए एक आदमी का आजम पुख्ता होना चाहिए कि ठोस इरादा उसके अंदर हो ढीला वो नहीं हो होगा कि नहीं होगा होगा कि नहीं नहीं इंशाला होगा एक आदमी का आजम पुख्ता होना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा आदमी का होना चाहिए कुरान करीम में सुर आल इमरान में अल्लाह तला फरमाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु से खिताब करते हुए वशाविर फिल अम्र ए नबी आप अपने साथियों से मामलात में मशवरा करें फ़ैदा आजम तफतवक्ल अल्लाह और जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा रखें जब आपने डिसाइड कर लिया कि ऐसा करना है फिर ये नहीं सोचे कि होगा कि नहीं होगा जब आपने तहकीक की जब आपने मशवरा किया ऐसा करना ही सही है यही स्टेप लेना चाहिए आजम था जब आप फैसला कर लें मजबूत इरादा कर लें फतवक्कल अल्लाह अब अल्लाह पे भरोसा रखिए यानी एक इंसान जब सारी तहकीक के बाद मशवरे के बाद सब कुछ सोच के एक नतीजे पर पहुंचे ऐसा करने में फायदा है तो अब फिर क्या करें अब आदमी डगमगाएगा तो फिर फायदा क्या है अब आदमी क्या करे यही सही है ना ठीक अब अल्लाह पे भरोसा रखो अल्लाह है सही हम कर रहे हैं सही स्टेप ले रहे हैं अल्लाह मदद करने वाला है फ़ैदा आजम था फतवक्ल अल्लाह ये कितना बड़ा असूल जिंदगी का है कि जब एक इंसान इरादा कर ले अल्लाह पे भरोसा रखे आप अब डगमगाए नहीं जब उसको मालूम है प्लेन अभी गिरने वाला है और पैराशूट से कूदने के सिवा और कोई चांस नहीं है फिर सोचेगा अगर कूदेगा खुलता कि नहीं क्या जाता सीधा खड्डे में गड्ढे में जाता क्या क्या फिर ये आदमी क्या होगा फिर उल्टा खोलने का भी नहीं खोलेगा जब आदमी पक्का इरादा कर ले कि यही करना सही है तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है फतवक्कल अल्लाह वो अब डगमगाए नहीं अब सोचे अब अल्लाह पे भरोसा करना है तहकीक और तवक्ल दोनों का जमा होना जिंदगी के लिए जरूरी है इस्लाम ये सिखाता है फ़ैदा आजम था देखिए कुरान की आयत में छोटा जुमला होता है लेकिन कितनी बड़ी बात उसमें होती है फ़ैदा आजम था आजम कहते हैं पुख्ता इरादे को फतवक्ल अल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखो फ़ैदा आजम था फतवक्ल अल्लाह इन अल्लाह इन अल्लाह अल्लाह तला तवक्ल करने वाले अल्लाह पर भरोसा रखने वाले को पसंद करता है अल्लाह तला उन लोगों को पसंद करता है जो अल्लाह पर भरोसा रखे आगे अल्लाह ताला क्या फरमाता है अगर अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो तुम पे कौन गालिब आ सकता है देखिए और थोड़ा तवक्ल के लिए क्या आ रहा है सपोर्ट आ रहा है बैकअप इंसुर कुमल्लाह फला गालिब अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद पर हो तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता है वह अब्दुल कुम और अगर वो तुमको छोड़ दे तुम्हारा साथ छोड़ दे फमन दल्लाबादी तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे अगर अल्लाह ही मदद छोड़ दे तो कौन है तुम्हारी मदद करने वाला कोई मदद काम नहीं आएगी अगर अल्लाह अपनी मदद छोड़ दे वल्लामिन और ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए तो यहां पर एक बहुत ही अहम असूल जिंदगी का दिया गया कि एक वो तहकीक करें दूसरा पुख्ता इरादा करे तीसरा इरादा कर लेने के बाद अल्लाह पर मामले को छोड़े अब हमने अल्लाह पर छोड़ दिया अल्लाह करने वाला है अल्लाह से हमारा गुमान अच्छा है ये इंसान आगे बढ़ेगा नहीं हमेशा एक कदम पीछे ही जाएगा और पीछे ही रहेगा पीछे ही रहेगा ये सूर्य आल इमरान आयत नंबर एक सौ उनसठ एक सौ साठ और आगे आइए जिंदगी के उसूलों में से मुस्बत फिक्र के एतबार से पॉजिटिव थिंकिंग के एतबार से एक उसूल ये भी है कि जब इंसान मसाइल में घिरा हुआ हो तो मसाइल में वो वसाइल पर निगाह रखे एक आदमी ऐसी जिंदगी तो कभी मिलेगी नहीं कोई मसला नहीं नहीं लेकिन एक इंसान अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स में जब होता है तो उसकी निगाह प्रॉब्लम्स में इतनी अटक जाती है कि सॉल्यूशंस पर उसका ध्यान नहीं रहता है इंसान की जिंदगी में हमेशा ऐसा होता है कि जब उसके पास मसाइल होते हैं तो उन मसाइल के साथ उसके पास वसायल भी होते हैं जब अल्लाह ताला बीमारी डालता है तो शिफा भी देता है आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह के बंदो तुम इलाज करो इसलिए कि अल्लाह ने हर बीमारी पैदा की है तो उसका इलाज भी पैदा किया है मक्का में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसलम का इनकार उरूज पर है लोग जान लेने की पोजिशन में आ गए हैं मक्का में इतना सीरियस सिचुएशन है लेकिन मदीना में क्या हो रहा है एकदम वो तैयार हो चुके हैं आओ हम हैं एक तरफ ऐसा है तो दूसरी तरफ वैसा भी है अगर सिर्फ मक्का पे आप सल्लाह निगाह रखते तो मदीना नहीं जाते कि एक तरफ एकदम अंधेरा हो रहा है दूसरी तरफ उजाला भी हो रहा है एक तरफ परेशानियां हैं तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है इंसान अगर सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखता रहे सॉल्यूशंस उसकी निगाह से उजल हो जाते हैं कुरान करीम में अल्लाह ने बयान किया है आप देखिए कुरान करीम में सुरह अशर अल इंशराह भी जिसको कहते हैं आयत नंबर पांच और छह में अल्लाह ताला क्या फरमाता है अल्लाह ताला ने रिपीट किया है दो मरतबा एक बात को कहा है बहुत कम आयतें ऐसी हैं कि लगातार एक बात रिपीट हुई हो इतनी अहम बात कुरान की है अल्लाह ने क्या फरमाया इन नमाल उसरी युसरन इन नमाल उसरी युसरा एक ही बात लगातार आई हो कुरान में बहुत कम इन नमाल उसरी युसरन ए नबी यकीनन हर तंगी के साथ आसानी है हर तंगी के साथ आसानी है तंगी के साथ आसानी है ऐसा कैसा होता इधर तंगी है और जिंदगी का उसूल है यहां देखा रहो यहां तो ट्रैफिक बहुत जाम है चलो और रोड से जाएंगे सिंपल रूल है जिंदगी का अगर वो यही रोड देखता रहेगा तो जिंदगी भर उधर ही रहेगा इस रोड के इस रास्ते के तंग होने की तरफ अगर उसकी निगाह गई है तो इंसान के लिए उसूल दिया गया है वो सोचे और कोई रास्ता है क्या जहां खाली मिलने वाला है तो इन ऐसा रास्ता हमेशा रहता है ऐसा रास्ता हमेशा होता है इंसान की सोच अगर वसी ना हो तो वो एक ही रास्ते में अटका रहता है अगर उसकी सोच वसी हो तो दूसरा रास्ता पा लेता है उसका सफर चलता है नहीं उधर ही अटका रहता उधर ही अटका रहता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है दुनिया में अब ऐसा कभी नहीं होता है कि एक प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है अल्लाह ताला कुरान में दो बार अगर कह रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है अल्लाह की बात सच्ची इंसान की बात झूठी इन नमाल उस्र युसरन यकीनन उस्र के माना होते हैं तंगी युसर के माना होते हैं आसानी हर तंगी के साथ आसानी है हर तंगी के साथ आसानी है अल्लाह ताला ने दो बार एक बात को कहा है ऐसे ही अल्लाह ताला कुछ कहता है एक बार भी होता तो सच बात थी सच बात को दो बार बोल रहा है और कौन बोल रहा है रब्बुल आलमीन वमन असदकुमिन अल्लाह कीला अल्लाह से सच्ची बात किसकी हो सकती है वो दो बार रिपीट कर रहा है एक बात को का मतलब याद रखो याद रखो सोचो गौर करो इसके ऊपर इंसान मौाक़े को देखे मसाइल के साथ आदमी क्या करे वैसा आपको कोई प्रॉब्लम है अब एक तरीका उसका ये क्या डेंजर प्रॉब्लम है अरे कितना खराब प्रॉब्लम है अरे बाप रे क्या प्रॉब्लम है अरे प्रॉब्लम आप इसी में गुम हो जाए तो आपको कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको प्रॉब्लम है आपने सोचा अच्छा ये प्रॉब्लम है ना ठीक है इसका सोल्यूशन क्या है सिंपल थिंकिंग बहुत मुश्किल मसला है ठीक है उसका आसान हल भी होता है मुश्किल हल होता है कोई मसला ऐसा नहीं होता जिसका हल ना हो कोई मसला ऐसा नहीं होता जिसका हल ना हो इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि एक इंसान मसाइल ही में गुम नहीं हो जाए बल्कि आदमी सोचे ठीक है ये तंगी है ये मसला है ये प्रॉब्लम है सोल्यूशन की तरफ सोचे आदमी सोल्यूशन की तरफ सोच इसका सोल्यूशन क्या है इसका हल क्या है आदमी अपनी सोच को हल की तरफ रखे मसाइल की तरफ नहीं वो आदमी रास्ता पा लेता है जो मसाइल ही में घिर जाता है उसी की सोच उसमें गुम हो जाती है वो आदमी टूट जाता है वो आदमी वो आदमी कुछ करता भी नहीं फिर वह आदमी पीछे रह जाता है इन नाल उसर युसरन इन नाल उसर युसरन ये किस दौर की आयतें हैं ये उस दौर की आयतें हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का में दावत मुश्किल बना दी गई थी आप मिसाल इसकी देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आए और कहा कुरान में भी अल्लाह ने इसको बयान किया सूर्य अलकाफ में और कहा हमको तीन चीजों के बारे में बताओ नंबर एक जुलकर नईन डिटेल चाहिए हमको पूरा बायोडेटा चाहिए नंबर दो असहाबे कह इनकी हिस्ट्री बताओ नंबर तीन और रूह इसके बारे में डिटेल बताओ हमको तीन मसायल पूछे गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने कहा कल आओ बता था कल आओ मैं बताऊंगा आपकी दिल में क्या बात थी जिबरील आते हैं रोजाना जिबरील से पूछ लूंगा बता देंगे बता दूंगा मसला खत्म जिबरील नहीं आए जिबरील नहीं आए एक दिन दो दिन तीन दिन पंद्रह दिन मक्का में और पूरे इलाके में फेमस हो गया क्या इनको देखो हमने तीन क्वेश्चन पूछे आंसर नहीं है हमको मालूम है हमारे सिवा किसी के पास आंसर नहीं है इसका ये नबी नहीं है नबी होते तो आंसर होता जो न्यूज एक छोटे से इलाके में एक दिन का मसला था पूछे बता दिया मसला खत्म हो गया वो फेमस हो गया और लोगों की हिम्मतें बढ़ी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया देखो जाओ पूछो जाओ पूछो आंसर नहीं है उनके पास होता तो देते और आंसर नहीं का मतलब क्या है ये सच्चे नबी नहीं है इसलिए कि यहूद ने मुशरकिन को जो क्वेश्चन दिया था वो इतना डेफिनेट क्वेश्चन था कि ये बता ही नहीं सकते ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन कोई पूछने देगा वेरिफिकेशन के लिए नहीं सीरियस क्वेश्चन था बताओ और नहीं जवाब देने की वजह से क्या हो गया हो और ज्यादा मौका मिला उनको उसको फेमस करने का देखो जवाब नहीं मिला जवाब नहीं मिला नहीं पंद्रह दिन के बाद जिबरी लाए और सारा डिटेल में कुरान की आयात में बता दिया गया उनके मुंह छोटे हो गए कि हम ये कह रहे थे हमारे सिवा कोई नहीं बता सकता है और नबी होते तो बताते बताए तो नबी हैं तो जो लोगों को थोड़े लोगों में अगर बता देते आप फौरन उसको तो लोग हाँ ठीक है क्या हुआ बता दिया लेकिन जब इन्होंने उसकी इतनी उधम मचाई कि बता ही नहीं सकते ये हमको मालूम है ना ये नहीं बताने वाले इनके पास है ही नहीं आंसर क्योंकि ये नबी नहीं है तो जब आपने बता दिया तो लोग पूछने लगे अब तो नबी है कि नहीं है तो जो छोटी टेरिटरी में मसला हो जाता हल अल्लाह ने उसको फैलने दिया तो एक चीज पंद्रह दिन तक तो आजाद था वो मुसीबत थी कितनी बड़ी तकलीफ थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ हुई होगी कि क्यों नहीं आ रहे क्या हो रहा क्या हो रहा क्या जवाब दूंगा इनको लोग शक कर रहे हैं नबी होने पर वो तकलीफ थी लेकिन अल्लाह ने उस तकलीफ को क्या कर दिया दावत के बढ़ने का जरिया बना दिया उसरी युसरन एक चीज का नेगेटिव आस्पेक्ट होता है लेकिन उसी में एक पॉजिटिव आस्पेक्ट भी होता है उस आदमी की निगाह उस तक जाना चाहिए उसकी निगाह उस तक जाना चाहिए यूसुफ सलाम का तो किस्सा आप देखो अबू के प्यारे लेकिन भाई बड़े डेंजर भाइयों ने देखा सारी अटेंशन इस पे ही है इसकी छुट्टी करो हमारा घर हो जाएगा उठा के डाल दिया कुएं में कपड़े झूठे बना के लेके आए बकरी का या किसी जानवर का उसमें खून डाल के लाया अब्बू को बताया भेड़िया उठा के लेके गया बच्चे को बाप ने तस्लीम इसको नहीं किया यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में काफिला आया उठा के लेके गया चलो अच्छा फ्री में गुलाम मिला गुलाम प्यारा बेटा बाप का नबी की औलाद इल्म से माला माल लेकिन किधर बाजार में और एकदम सस्ते में बिकने वाला गुलाम वहां से गए अजीज मिस्र के घर में बीवी डेंजर वहां भाई डेंजर थे यहां बीवी डेंजर उसकी उसने बोली काम कर दो गलत काम गुना करो वहां से भागे काल माब अल्लाह अल्लाह की पना क्या करती है भागो लोग आगे जमा हो गए क्या हुआ मसला वहां से जेल में जेल में चले गए क्या ही लेकिन एंड कैसा हो रहा है जेल में दो आदमी साथ में आए दोनों ने दो ख्वाब देखे और एक उसमें से निकला जो बादशाह का खास था वो फ्यूचर में बादशाह का खास था उसने बादशाह को अल्लाह ने खाब दिया बादशाह को साद गाय ऐसी साद गाय ऐसी बादशाह ने पूछा कोई है खाब की ताबीर बताने वाला कोई नहीं उसने बताया हाँ एक है जेल में मिला था ऐसा वो खाब की ताबीर बताता और मुझको बताया था एक्चुअली वैसे ही सा बताया बादशाह बोला लाओ इन्होंने कहा मैं आऊंगा एक कंडीशन पे और बादशाह को फिर बताया और बादशाह को कहा मैं मुझको अपने खजानों के ऊपर तुम पूरी चाबी मेरे हाथ में दे दो वहां बिक रहे हैं सस्ते गुलाम के तौर पर कुछ कीमत नहीं और आगे जा रहे हैं मिस्र के बादशाह की चाबियां पूरी हाथ में आ रही है तो एक नेगेटिव चीज है हो रहा है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव लेकिन एंड कैसा हो रहा है सुपर पॉजिटिव जिंदगी की बाज ठोकरें इंसान को किसी अच्छी जगह पर पहुंचा देती है आदमी उन ठोकरों में अगर फंस के रह जाए और आदमी सोचे मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ अल्लाह की नाशुक्रिया अगर करे तो अल्लाह भी नाराज हो जाता है लेकिन आदमी अगर उसमें जमा रहे नहीं कुछ तो अच्छा होगा कुछ तो अच्छा होगा ठहरो ठहरो ठहरो सबर करो कुछ नहीं भी हुआ तो आखिरत में तो अच्छा होगा कि नहीं होगा सबर का जब अल्लाह की तरफ से हाजिर मिलेगा आदमी इन नेगेटिव हालात में भी अपनी सोच को पॉजिटिव अगर रखे उनमें पहलू अच्छा देखे कि इसमें कुछ अच्छा हो सकता है इसमें कुछ अच्छा निकल सकता है तो ऐसा आदमी ऐसा आदमी टूटेगा नहीं ऐसा आदमी नाकाम नहीं होगा मिसाल के तौर पर और कई मिसालें इसकी इसलिए वक्त हमारे पास उतना नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं जिसको खतीब अल बगदादी ने जिक्र किया है अनसरु मा सब्री अनसरु मा सब्र वल फरज अल कर्ब व इन अल उसर युसरा आप फरमाते हैं अनसरु मा सब्र अल्लाह की मदद सब्र के साथ है अगर मुसीबत है सब्र करेगा अल्लाह की मदद मिलेगी तो मुसीबत आई मदद भी आएगी अनसर सब्र वल फरज मायल कर्ब और तकलीफ के साथ कुशादगी भी है अगर अल्लाह ने तकलीफ डाली है तो उसके साथ कुशादगी भी है कहीं ना कहीं रास्ता रहेगा उसका कि तुम उस मुसीबत से निकल सको वह इन नायलोसर युसरा और यकीन तंगी के साथ कुशादगी तंगी के साथ आसानी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये बात कही है आगे आइए इस्लाम इस बात की तालीम हमको देता है कि एक आदमी जब मसायल उस पर आए तो उसमें एक तरफ तो वो कोशिश करे और दूसरी तरफ वो अल्लाह पर भरोसा रखे यानी तदबीर और तवक्ल दोनों को जमा करना दुनिया में नाकाम लोग दो तरह के हैं एक वो लोग हैं जिन्होंने तदबीर को छोड़ के खुद अल्लाह है इस पर ही जीते रहे दूसरे वो लोग हैं अल्लाह क्या करें आपने को करना पड़ेगा एक जहालत है दूसरा कुफर है अल्लाह ताला ने जो असबाब दिए हैं एक आदमी है अल्लाह ने उसको खाना सामने उसके रखा हुआ है अल्लाह ने हाथ दिया उसको अब वो लुकमा बना के खाना चाहिए क्यों अल्लाह ने उसको वसायल दिए उसको इख्तियार करे बोले नहीं अल्लाह है ना अल्लाह खिलाने वाला है अल्लाह रिस्क देता ना बंदों को तो मुझको भी देगा खिलाएगा ऐसा अल्लाह ऐसा खिलाएगा अल्लाह का कायदा ये नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है ए बच्चे दाएं हाथ से खा ये नहीं फरिश्ते आके खिलाएंगे अब ये वेट कर रहा है अल्लाह ने बोला ना खिलाएंगा तो अल्लाह फरिश्तों को भेजेगा मिले ऐसा नहीं होता है अल्लाह का कायदा है अल्लाह की सुन्नत है अल्लाह का वापता है अल्लाह की कुदरत एक अलग चीज है अल्लाह की सुन्नत एक अलग चीज है अल्लाह की कुदरत है अल्लाह ताला मां के पेट में बगैर हाथ के खिलाता है कुदरत है अल्लाह की लेकिन सुन्नत क्या है अल्लाह ताला बाहर आने के बाद बंदे को रिस्क देता बंदे ने उठा के खुद खाना है इसलिए शरीर का हुक्म है दाया हाथ से खाओ तो बंदे को खुद खाना है अब वो इंतजार करे असबाब इख्तियार ना करे जाहिल है लेकिन ये कहे अल्लाह थोड़ी खिला सकता है अल्लाह नहीं खिला सकता है तो ये काफिर है क्योंकि अल्लाह खिला सकता है मां के पेट में खिलाया अल्लाह ने लेकिन सुन्नत अल्लाह की ये नहीं है कायदा अल्लाह का ये नहीं है इस्लाम हमको तालीम देता है कि बंदा कामयाबी के लिए दोनों को जमा करे वो अल्लाह पर भरोसा रखे शिफा के लिए लेकिन दवा भी करे दवा भी करे दवाई नहीं कर रहा अल्लाह शिफा देने वाला है सही नहीं है इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के बंदो दवा इस्तेमाल करो आपने खुद इस्तेमाल की आयशा से पूछा गया आपको इतनी दवाएं मालूम है कई साहब तो के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में आखिरी वक्त में कई डॉक्टर इधर उधर से आते थे उनकी दवाएं देख देख के मैं सीख गई दवाएं मालूम थी सताइश को साहबा दवाई करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दवाई करते थे एक आदमी कोशिश कर रहा है कारोबार कर रहा है उसके लिए कोशिश कर रहा है भागदौड़ कर रहा है और अल्लाह पर भी भरोसा रख रहा है हम जो भी कोशिश टूटी फूटी कर रहे हैं अल्लाह देने वाला है तो तवक्ल और असबाब को जमा करना एक सहाबी आए अब अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह फरमाते हैं काला रजुल या रसूल अल्लाह एक आदमी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ए अल्लाह के रसूल मैं अपने ऊंट को आकिलुहा व अतवक्कल और उसलिफुहा मैं अपने ऊंट को बांधूं और अल्लाह पे भरोसा करूं या अपने ऊंट को मैं खुला छोड़ दूं और अल्लाह पे भरोसा करूं कहीं नहीं जाएगा क्या करूं दोनों में से ऑप्शन क्या है जब अल्लाह ऊंट को बाकी रखने वाला है मेरे पास कहीं नहीं जाएगा तो खुला छोड़ो या बांधो उसको आपने फरमाया कि आकिल हा व अपने ऊंट को बांध और अल्लाह पे भरोसा रख अपने ऊंट को बांध और अल्लाह पे भरोसा रख ये सही सोच है कि एक इंसान असबाब को इख्तियार करे और अल्लाह पर भरोसा रखे ये सही सोच है ये इस्लाम एक इंसान को तालीम देता है आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जात पर भरोसा करते हैं डॉक्टर पर भरोसा करते हैं किसी और पर भरोसा करते हैं मालो असबाब पर भरोसा करते हैं डिग्री पर भरोसा करते हैं बैकिंग पर भरोसा करते हैं ये टूट जाते कहीं ना कहीं जाके लेकिन जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है ये इंसान टिका रहता है और असबाब भी इख्तियार करता है तो ये इंसान पा लेता है जिसके लिए वो आगे बढ़ता है ये तिरमिजी की हदीस है और आगे बढ़ी है एक इंसान के लिए ऊंची सोच का रास्ता यह भी है कि जिंदगी में जो मसायल उसको पेश आए अपने मकसद तक पहुंचने के लिए उसके बीच में आएंगे रास्ते रास्ते में रुकावटें आएंगी वो इन रुकावटों को नजरअंदाज करके अपने गोल पे ध्यान दें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो जिंदगी में एक मकसद तय करते हैं अपने को ऐसा बनने का बहुत अच्छा फिर बीच में उस मकसद के रुकावटें आती हैं वो उन्हीं मकासद में उनको नजरअंदाज करके रुकावटों में ऐसे फंस जाते हैं कि मकसद दूसरी तरफ ही रह जाता है ये दूसरी तरफ निकल जाते हैं दावत का मैदान है मसलन आप लोगों की हिदायत के लिए उनको दावत देने के लिए निकले अब उसमें रुकावटें आ रही हैं मुखालिफतें आ रही हैं आदमी अपने गोल को छोड़ के दूसरी मुखालिफतों में लग गया उसका मकसद अलग रह गया उसकी दावत अलग रह गई ये अलग निकल गया आदमी एजुकेशन के फील्ड में है उसमें आगे बढ़ रहा था बीच में कुछ रुकावटें आ गई उन्हीं में फंस गया मकसद से निगाह हटा दी कहीं और चला गया है एक इंसान अपने गोल पे अपने टारगेट पे निगाह रखे अपने मकसद पर निगाह रखे और आने वाली परेशानियों में से अक्सर को नजरअंदाज कर दे बहुत सारे मसाइल बहुत सारी रुकावटें नजरअंदाज करने से मर जाती है जबरदस्ती उनको छेड़ने से बढ़ जाती है मिसाल देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक सहाबी कहते हैं रईस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल मजाजी यतखल्लुहा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि को जुल मजाज के बाजार में देखा आप लोगों के बीच चल रहे थे भीड़ है बाजार है एकदम आप तस्वूर करें कि अरब का बाजार मक्का का बाजार मुशरकिन तलवारें सोते हुए कैसे कैसे लोग हैं वहां पर डेंजर और उनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में चल रहे हैं लोगों के बीच से चलते चलते चलते चलते जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं यकूल अय्यास आप ऐलानिया कह रहे हैं ए लोगो या अय्नास ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो इस बात को मान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है तुफ्लिहू तुम कामयाब हो जाओगे तुम्हारी कामयाबी इसमें है कि तुम तोहहीद इख्तियार करो साहब साहबी कहते हैं वह अबू जहल यख्तियाल सुराब लेकिन अबू जहल क्या कर रहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मिट्टी डाल रहा था आप आगे आगे कहते जा रहे हैं पीछे पीछे ये बदबक है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी डालता उठाता मिट्टी डालता है मिट्टी डालता उठाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी डालता है और कहता है यकूल लोगो ये आदमी तुमको तुम्हारे दीन से फेर न दे यह आदमी तुमको तुम्हारे दीन से फेर न दे फन्नमा यूरीदुली तत्सरुकु आलिहा तकुम व ये चाहता है इसका इरादा क्या है इसकी नीयत गलत है इसकी नीयत यह है इसका इरादा यह है कि तुम अपने महबूदों को छोड़ दो तुम लात और उजा को छोड़ो लात और उजा टॉप महबूद थे उनके उनके बहुत फेवरेट महबूद थे वो लात और उजा कुरान में भी जिक्र है अफराई तुम उज्जा ये तुमको लात और उजा के खिलाफ भड़काता है तो इस तरह से एंटी मार्केटिंग करता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि की दावत चल रही है पीछे पीछे यह भी अपनी दावत दे रहा है और ऊपर क्या कर रहा है इंसल्ट कर रहा है आपको प्रोवोक कर रहा है आपको उकसा रहा है लेकिन साहब क्या कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रिएक्शन था इसके ऊपर कहते हैं काला वमा अल्तफित रसूलुल्लाह लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते थे उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते थे इसको इमाम अहमद ने रिवायत किया मुस्तब में अगर थोड़ी देर के लिए आप तस्वूर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जा रहे हैं वो पीछे से मिट्टी डाल रहे आप पलट गए क्या है क्यों मिट्टी डाल रहे हैं मेरी मर्जी मेरा हाथ है मेरी मिट्टी अरब है मत डालो डालूंगा बोलो क्या बोलने का डालूंगा कुछ भी करूंगा मेरे पीछे क्यों आ रहा मेरी मर्जी कहीं भी जाऊं अब क्या होगा भीड़ जमा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ होता ना ऐसा क्या हुआ मेरे से लड़ रहा है ढकेलना शुरू करेंगे एक आदमी सता रहा है पचास आदमी भीड़ बना के सबको पावर मिल जाता है क्यों इसलिए कि हमने इनिशिएट किया उसको हमने कहा क्यों क्या कॉन्फ्रेंटेशन के लिए तैयार कौन हुआ हम झगड़ा दो से बनता है एक से झगड़ा नहीं बनता है झगड़े के लिए कितने लोग लगते हैं मिनिमम दो झगड़े के लिए तैयारी नहीं होंगे तो अल्लाह वमा यल्तफिसु इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर आप मुड़ के उसकी तरफ मुतवजा हो जाते या उला इला रुक गया आपका टारगेट क्या है दावत आपका टारगेट झगड़ा नहीं है अपनी दावत तो चल रही मिट्टी डालने से क्या होता है शाम को नहा लेंगे धो लेंगे क्या है लेकिन दावत तो हो रही ना तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ रही है वो करते जा रहा करते जा रहा लेकिन आप अपनी दावत देते जा रहे हैं ऐसा दावत दिए अल्लाह के नबी और आप देखिए हमारे माँ बाप फिदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे दावत दी है यानी सर पे मिट्टी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सर जो जितने बंदे अल्लाह के आगे सज्जे में जिन्होंने सर रखा है उन तमाम सरों में सबसे आजमत वाला सर है, है कि नहीं है बिला मुनाजा सारे नबियों के सरदार आपका सर आपके सर पे मिट्टी डाल रहा है और अल्लाह आजाद के लिए कुछ भेज रहा भी नहीं है क्यों इसलिए कि नबी को ऐसी दावत देना पड़ता है इससे नबी की शख्सियत में तरक्की होती है अल्लाह से रिश्ता और मजबूत होता है रोना बहुत जल्दी आता है और रोना बहुत जल्दी और जब वह नबी रोता है तो फिर फिर काम होता है तो अल्लाह ताला ने इस तरह से तो इसमें एक रूल हमको ये मिलता है कि बाद चीजों को नजरअंदाज करने से उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है उसको हम कॉन्फ्रंट करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है किसी को ध्यान ही नहीं दिए तो अपने आप वो छोटा हो जाता है उसका खुद इंसल्ट होता है इसको तो ध्यान भी नहीं देता इसको तो ध्यान भी नहीं देते तो ध्यान देने से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बढ़ जाती जिंदगी में ये उसूल हमको मिलता है सुन्नत से कि मसाइल को नजरअंदाज करो मौका देखो मौका वेस्ट मत करो आपकी ट्रेन छूट रही है और कोई आदमी आपको धक्का दिया लड़ मेरे साथ और आप एकदम पहलवान हैं मिस्टर अल्टीमेट आप हैं तो आप लड़ेंगे उससे आप क्या बोलोगे बाद में आऊंगा देखूंगा मैं कभी फिर मिल मेरे मेरी ट्रेन है अभी वरना मैं रुकता इधर आप प्रेफरेंस दोगे कि इससे लड़ना है या आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है लड़ना नहीं लड़ने में क्या मिलने वाला है इसके दांत कम होंगे मेरा एक आधा कम हो जाएगा लेकिन इसके दांत कम करके मेरा क्या फायदा है मेरा जॉब जाने वाला मेरी वहां पे क्या है मीटिंग है तो एक अहम चीज के लिए बहुत सारी चीजों को जिंदगी में क्या करना पड़ता है नजरअंदाज करना पड़ता है ये रूल कौन दिया हमको ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है कि एक आदमी नजरअंदाज करे नजरअंदाज करे तो ये भी जो है इंसानी सोच की ऊंचाई की अलामत है कि आदमी इस तरह से प्रेफरेंस की तरतीब करे कि क्या छोड़ना है और किधर उलझना है हर जगह उलझने वाला आदमी पीछे रह जाता है लेकिन जो आदमी कुछ चीजों को छोड़ के आगे बढ़ता निकल जाता है वह आगे निकल जाता है वह आगे निकल जाता है मजीद ऊंची सोच में यह भी है कि एक इंसान अपने दुश्मन को भी अपनी तरक्की के लिए सीढ़ी बनाए दुश्मन आया दुश्मन से लड़ के खुद गिर गया नहीं दुश्मन के सर पे पांव दे के ऊपर गया यह आदमी कामयाब है अकलमंद है कि वो देखिए दुश्मन है इसको भी हम कैसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके बेनिफिट उठा सकते हैं क्योंकि आपको हमेशा दोस्त नहीं मिलने वाले दुश्मन भी मिलने वाले चाहे आपका ऑफिस का जॉब हो चाहे आपका कॉलेज हो चाहे आपकी दावती जिंदगी हो चाहे आपकी रिश्तेदारियां हो कुछ भी हो आपका कोई भी जो है आपका इलाका हो आपको कुछ लोग पसंद करेंगे कुछ लोग चाहेंगे कि जल्दी मरा तो अच्छा है ऐसे भी रहेंगे लोग कुछ लोग ऐसे होंगे कि खाली हाथ में आ हाँ, मेरे उसके देख कैसा करता हूं हमेशा ऐसे समाज में लोग होंगे एक आदमी जब अपने उसूलों पर चलता है तो कुछ उसके दोस्त कुछ उसके दुश्मन बनते हैं अकलमंद आदमी कौन है अकलमंद आदमी वो है कि जो अपने मुखालिफिन से भी जो फायदा उठा सकता है उठाए और अपनी तरक्की का सफर चालू रखे किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अकलमंद आदमी वो है कि जो ईटें उसकी दुश्मन उसको मारने के लिए फेंक रहे हैं वो ईटे जमा करे जमा करे और अपना घर बनाए उससे लोगों ने ईटे क्या किया उसको मारने के लिए फेंके लेकिन उसने क्या किया मारो पकड़ो पकड़ो पकड़ो जमा किया हाँ बहुत ईट हो गई आप क्या करो अपना घर बनाएंगे हमारा घर तुम्हारी ईटे ही सब तुम्हारी ईटे ही और तकलीफ उसको कि मुखालिफिन से उलझना हमारी तरक्की में रुकावट न बने बल्कि हम अपनी तरक्की में मुखालिफिन को भी इस्तेमाल कर लें ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अकलमंद और बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे आप इंसान को हिकमत सिखाने के लिए भेजे गए थे आपने क्या किए आप देखिए इबन अब्बास रजी अल्लाह तो फरमाते हैं का अल असरा यौम बद्रिन बद्र की जंग में कुछ लोग कैदी पकड़े गए लम यकुल्लहुम फिदा कुछ लोगों के पास तो अपने छुड़ाने के लिए कुछ पैसा था उन्होंने पैसा दिया काम को छोड़ो इतना पैसा हम देते हैं पैसा लिए छोड़ दिया या कुछ लोग थे किसी बुनियाद पर उनको छोड़ा गया कुछ लोग ऐसे थे कि उनके पास अपने छुटने के लिए अपने छुटकारे के लिए कुछ भी नहीं था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए साहबी कहते हैं फजाल रसूल सल्लल्लाहु औलाद अल अंसारी अल किताब अल्लाह के नबी सल्लाम ने उनकी आजादी के लिए कंडीशन रखी कहा तुम अंसार के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाओ तुमको हम आजाद करेंगे हमारे अंसार के बच्चे इनको पढ़ना लिखना सिखाओ इनके पास एजुकेशन था वो पढ़े लिखे कैदी थे जंग में पकड़े गए तुम्हारे पास क्या है तुम्हारी टेक्नोलॉजी तुम्हारा नॉलेज लाओ इधर हमारे बच्चों को पढ़ाओ और जाओ दुश्मन के पास जो स्किल है दुश्मन के पास जो कमाल है उसकी जो सलाहियत है एक आदमी दुश्मन को कत्ल कर दिया मर गया खत्म लेकिन अकलमंद आदमी क्या है दुश्मन की सलाहियत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें कितना इंटेलिजेंट आदमी है तो आपने क्या किया उनके उनके इल्म से जो दुनियावी इल्म था पढ़ना लिखना आपने क्या किया ठीक है हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाओ क्योंकि मदीना में कम लोग थे ऐसे ड्यूटी दी उनको पढ़ना लिखना सिखाओ और जाओ तुम्हारी छुट्टी इसी में है इससे मालूम हुआ और कई बातें उलमा ने इससे इस्तेमाल की हैं कि मुशरकिन के पास दुनियावी उलूम कुछ ऐसे हों चाहे वो इस्लाम के दुश्मन हो दुनियावी उलूम वरना जा रहे कुरान पढ़ने को उनके पास दुनियावी उलूम टेक्नोलॉजी उनसे अगर सीखना पड़े उनसे भी सीखेंगे अगर उनसे हमको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़े इस्लाम देखिए कितना एजुकेशन के बारे में कितना ब्रॉड माइंडेड है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी नॉलेज और दुनियावी उलूम दुश्मन से भी सीखने पड़े आप उससे भी ले सकते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जो मुसलमानों को कत्ल करने के लिए जंग में आए थे पकड़ा और बोले पढ़ाओ हमारे बच्चों को और जाओ यानी उनके पास जो फायदे की चीज थी वो अपने बच्चों को दिलवाई और इनको एजुकेटेड किया और उनको छोड़ा दुश्मन से भी उसके पास की फायदे की चीज लेना और अपनी तरक्की में उसको इस्तेमाल करना ये जिंदगी के उसूल में से एक उसूल है इसको इमाम अहमद ने रिवायत किया है इस तरह और कई बातें हैं जो कुरान और सुन्नत में हमको मिलती हैं हम जितना मुताला इसका करें कम ही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर मैं अपनी गुफ्तु खत्म करूंगा वरना और भी बहुत सारी बातें थी इसको आगे भी जारी रखा जा सकता है इनशाला इसको हम अगले दर्श में ही बाकी मौजू को मुकम्मल करें इसलिए कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत सारी बातें जिसको हम देख सकते हैं